कोई हिलेगा नहीं सब अपनी जगह पर बैठे रहो वरना एक एक की आते निकाल दूंगा देव ने चिल्लाते हुए कहा उसने अपनी बंदूक का निशाना उस चाय की दुकान में बैठे कस्टमर पर किया हुआ था पुलिस की टीम धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ रही थी ये कहने को चाय की दुकान थी असल में तो ये बिजनेस डील और बैटिंग का अड्डा था ये किसी होटल से कम नहीं लग रहा था पुलिस देव ने चिल्लाते हुए एक हाथ से अपना आईडी कार्ड बाहर निकाल लिया जैसे ही देव ने भीड़ की तरफ अपने गन का निशाना बनाया वहां भगदड़ मच गई सभी लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लग गए इस वक्त वहां तकरीबन बारह तेरह लोग मौजूद थे तीन चार बिजनेसमैन बैठे हुए थे और बाकी उनके बॉडीगार्ड्स थे जैसे ही उन लोगों ने देव की गन टॉन देखा सभी बॉडीगार्ड्स भागते हुए अपने अपने बॉस की सिक्योरिटी में लग गए उन्हें आगे आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था इस वक्त वहां कुर्सी पर एक 40-42 साल का आदमी आराम से बैठा हुआ था सामने पुलिस को बंदूक ताने खड़ा देखकर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी ये खालिद ही था काले रंग का पठानी सूट पहने आराम से बैठा हुआ था हाथों में सोने का मोटा सा ब्रेसलेट और गले में भी सोने की मोटी चैन पहनी हुई थी वो जानता था कि छोटे मोटे पुलिस वाले उसका कुछ नहीं करते उसका कनेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ था इन जैसे छोटे मोटे ऑफिसर से लड़ने के लिए उसे बस एक फोन घुमाने की जरूरत है लेकिन इस बार शायद उसका अंदाजा गलत था वो जैसे ही उठकर कुछ बोलने वाला था तभी सामने से विक्रांत ने आकर बिना कुछ पूछे उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे डाला खालिद की नाक से खून बहना शुरू हो गया उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा कौन से ब्रांच से हो तुम लोग जानते भी हो तुम मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की अभी रुको तुम लोग तुम्हारा हिसाब करते हैं इतना कहते हुए खालिद अपनी जेब से फोन निकालने लगा लेकिन तभी विक्रांत ने एक साथ आठ दस पंच उसके मुंह पर जमा कर उसे जमीन पर धराशाही कर दिया अब वो कुछ कहने की हालत में नहीं बचा था फिर उसने जमीन पर से उसका कॉलर पकड़कर उठाते हुए पूछा साजिद कहा है आज तक खालिद को कभी किसी ने हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं की थी लेकिन विक्रांत ने उसके चेहरे की रुत बिगाड़ कर रख दी थी विक्रांत का सवाल सुनने के बाद खालिद को अंदाजा हो गया था कि पुलिस वाले उससे क्या चाहते हैं चेहरे से लगातार खून टपकते रहने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान थी उसने मुस्कुराते हुए कहा तुम लोगों को एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती क्या मैंने पहले ही तुम्हें बताया था ना कि मुझे साजिद के बारे में कुछ पता नहीं है फिर भी तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो सटा खालिद के मुंह से ये शब्द निकलते विक्रांत ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर चढ़ डाला साले अभी तुझे अंदाजा नहीं है कि तेरी गर्दन किसके हाथ में है जो पूछ रहा है सीधे से जवाब दे दे वरना कभी बोलने लायक नहीं बचेगा अब तक खालिद के बॉडीगार्ड्स एक्शन के मूड में आते दिख रहे थे वो विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे तभी देव ने चिल्लाते हुए कहा ए जहाँ है वहीं रुक जा वरना एक एक करके चिथड़े उड़ा दूंगा इतना कहते हुए देव ने एक गोली हवा में फायर कर दी गोली की जोरदार आवाज वहां गूंज उठी फिर जो जहां था उसका कदम वहीं ठिठक कर रह गए फिर विक्रांत ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा कान खोल लो और जहां से बात घुसे अंदर घुसा लो यहाँ पर हम साजिद खान को पकड़ने के लिए आए हैं और हम उसे लेकर ही जाएंगे अगर तुम लोगों को बीच में आकर उड़ता हुआ तीर लेना है तो ही आ गया ना वरना जहाँ हो इज्जत से वहीं खड़े रहो वैसे भी देश में मंदी चल रही है काहे सरकारी गोली खर्च करवाना चाहते हो भाई विक्रांत की धमकी सुन वहाँ मौजूद लोगों को ये पता लग गया कि पुलिस इस वक्त किसी सीरियस केस के सिलसिले में यहाँ आई हुई है और आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है सबके सब अपनी जगह पर मूर्ति बनकर खड़े हो गए यहाँ जो भी लोग मौजूद थे सभी खालिद के अच्छे दोस्त थे फिर भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर खालिद को पिटने से रोक पाए उधर पुलिस टीम के साथ खड़े श्रेयस राव की हालत खराब होने लगी गोली की आवाज सुनकर ही उनके पैर कांपने लगे दरअसल जिस बंदूक से अभी देव ने हवा में फायर किया था वो रिवॉल्वर श्रेयस की ही थी अब अगर इस रिवॉल्वर से कुछ होता है तो बेशक इसका जवाब श्रेयस को ही देना होगा इस वजह से और ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा था विक्रांत विक्रांत श्रेयस के चेहरे पर पसीना छाया हुआ था विक्रांत को बुलाते वक्त उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी उसका कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा श्रेयस सर अब तक अमित समझ चुका था कि श्रेयस के लिए ये पल बहुत भारी साबित हो रहे हैं उसने तुरंत ही श्रेयस को पकड़कर पीछे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता खालिद ने खून से भरे मुंह से चिल्लाते हुए कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तुम किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो अब तक विक्रांत ने अपनी कोहनी को खालिद के चेहरे पर वार करने के लिए तैयार कर लिया था नहीं नहीं नहीं आह अब तक विक्रांत ने अपनी कोहनी से खालिद पर वार कर दिया था वो तो उसने विक्रांत की कोहनी पड़ने से पहले ही अपने चेहरे को ढक लिया था उस वजह से उसे कम चोट लगी वरना पक्का था कि इस प्रहार से उसके मुंह की हड्डी टूट चुकी होती देख खालिद मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैं तेरे से साफ बात कर रहा हूँ साजिद की गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पहले ही उठा लिया और उसने अपना बयान भी दे दिया उसने हमें साफ साफ बताया कि साजिद तुम्हारे पास ही छुपने के लिए आया हुआ है अब इतना जान लो कि हम बिना तुमसे साजिद का एड्रेस लिए यहाँ से जाने वाला नहीं है विक्रांत के इतना कहते खालिद जोर जोर से हंसने लग गया <laughs> तुम तुम साले पुलिस वाले पागल के पागल ही रहोगे तुमने उस छोकरी की बात पर यकीन कर लिया <laughs> मैं तुझे कह रहा हूँ ना मुझे नहीं पता साजिद कहाँ है तुम लोग मुझे मारने के बजाय उधर जाकर उसे ढूंढने में टाइम लगाओ इधर उधर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें हे हंसते हुए खालिद के मुंह से खून के साथ लार भी निकलना शुरू हो चुका था खालिद का हंसता हुआ चेहरा देखकर विक्रांत समेत वहां मौजूद सभी पुलिस वालों का खून खोल उठा विक्रांत ने खालिद की एक टांग उठाकर सामने पड़े ट्रेवल पर टिका दी जबकि खालिद अभी जमीन पर ही लेटा हुआ था नहीं नहीं नहीं टूट जाएगा टूट खालिद उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन तब तक विक्रांत ने हवा में उछल खालिद के घुटने पर अपनी लात से वार कर दिया टेबल टूटकर जमीन पर फ्लैट हो गई दर्द के मारे खालिद करा उठा शायद उसके पैर की हड्डी भी जा चुकी थी आह साले समझ में तुम्हें नहीं आ रहा अभी साजिद पुलिस ऑफिसर मंजू सचदेवा का मर्डर करके भागा है समझ रहा है ना पुलिस वाले का मर्डर किया है उसने अभी तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए किस हद तक जा सकती है साले फटाफट बता दे साजिद कहाँ है वरना एक एक करके सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा इतना कहकर विक्रांत ने फिर से खालिद की दूसरी टांग पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और उसे दूसरे टेबल के पास घसीट कर ले जाने लगा खाली जमीन पर फिसलते हुए कह रहा था मेरी मेरी बात सुनो मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ भले ही मुझे नहीं पता कि साजिद कहाँ है लेकिन आ, आ, विक्रांत ने एक जोर की लात उसकी जांघों पर मार दी खालिद दर से करा उठा साले हमें चूतिया समझता है विक्रांत ने यह कहते हुए खालिद का पैर फिर से दूसरे टेबल पर टिका दिया पिछली बार तो उसका बायां पैर लगभग टूट ही चुका था इस बार विक्रांत उसके दाहिने पैर को भी तोड़ने की तैयारी में था अगर इस बार विक्रांत ने खालिद पर अटैक कर दिया तो पक्का है कि वो चलने फिरने लायक भी नहीं पहुंचेगा ये क्या ये क्या कर रहे हो तुम छोड़ दो मुझे छोड़ दो छोड़ दो विक्रांत मानो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था खालिद का पैर टेबल पर टिकाने के बाद खुद वो टेबल पर चढ़कर खड़ा हो गया अब तो खालिद के टांग पर जंप मारने की तैयारी कर ही रहा था कि खालिद ने हड़बड़ाते हुए कहा बताता हूँ बताता हूँ विक्रांत अभी भी धीरे धीरे पैर उठाते हुए उस पर अटैक करने के मूड में लग रहा था सुलेखा अपार्टमेंट चिंस पोखली फ्लैट नंबर 102 आह खालिद ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया